देखो ये ऐसे तो तुम्हारे बस में होने वाले नहीं है एक अनुष्ठान में बताता हूँ तुमको उस मंत्र का जप करो तो ये तुम्हारे बस में हो जाएगा अब महाराज जब वो अनुष्ठान करने लगे ना बस में करने के लिए तो उनके प्रति जो मेरे मन में सहानुभूति थी वो खो गई छह महीने रहे झूसी में गंगा किनारे स्नान करते थे अनुष्ठान करते थे एक बार में कहीं आते जाते उनके पास गया तो उन्होंने कहा बस अब मेरा अनुष्ठान सफल हो गया फिर उतने में भाई जी ने उनके ब्याह का बंदोबस्त कर दिया ब्याह हो गया पत्नी आ गई और दो तीन बच्चे हो गए फिर तो कभी बरस के महीने में मेरे पास आते थे अब तो बरसों से नहीं तो बड़े बूढ़े हो गए तो जब आदमी अपने प्रियतम को वश में करना चाहता है ना और उसके लिए धर्मानुष्ठान करता है मंत्र का जप करता है वश में करने के लिए ये प्रेम का नियम नहीं है प्रेम में प्रेम ही वश में करने को काफी होता है प्रेम में टोना टोटका मंत्र मददगार ये सब प्रेम में बाधक होते हैं वो बाधक उनसे सिफारिश करवाया उनसे कुछ कहला उनकी शरण ली ये सब टोना टोटका उसमें अपने प्रियतम अपने इष्टदेव अपने परमेश्वर के आश्रय को छोड़ करके किसी भी धर्म का आश्रय लेकर उसको प्राप्त करना न ये शरणागति है न ये प्रेम है न ये भक्ति है तो भगवान ने पहली बार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने और बलदेव विद्याभूषण जी ने दोनों ने इस श्लोक की व्याख्या में ऐसा कहा है कि भगवान की शरण लेना है और देख रहे हो धर्म की हो नहीं भगवान तो अपने आत्मा है यदि वो दूसरे घर में होते उनके पास जाना होता तो मोटर पर चढ़ के जाना पड़ता आ, किसी से रास्ता पूछ के साथ लेके जाना होता चलो भाई पहुंचा दो हाँ, चलो पहचान करा दो उनका पहुंचने के लिए मोटर चाहिए वो तो अपने हृदय में ही है बाबा ईश्वर के पास जाने के लिए धर्म की मोटर नहीं चाहिए ईश्वर के पास जाने के लिए कोई रास्ता बताने वाला साथी नहीं चाहिए जाके ईश्वर से हमारा परिचय करा दे परिचय कराने वाले की जरूरत नहीं है तब समान एकम सर्वधर्मान परित्यज्य उन्होंने लिखा गीता पर कोई तो डेढ़ सौ दो सौ संस्कृत की टीकाएं आजकल मिलती हैं मतलब भारत वर्ष में नहीं है कुछ जावा में है कुछ सुमात्रा में है और कुछ जर्मनी में है संस्कृत टीकाएं और भारतवर्ष में और कश्मीरी शैवों की टीका अलग है अभिनव गुप्त की टीका है राजानक की टीका है शैवों की अलग है शाक्तों की अलग है और शंकराचार्य श्री निम्बारकाचार्य के वंश की अलग है निम्बारकाचार्य की कोई टीका गीता पर नहीं है सब कश्मीरी की टीका को वो लोग अपने नाम करते हैं हाँ, मध्वाचार्य की टीका गीता पर है रामानुजाचार्य की है बल्लभाचार्य की भी कोई साक्षात टीका गीता पर नहीं है पुरुषोत्तम गोस्वामी और बल्लभ दीक्षित उनके वंशज हैं उनकी टीका गीता पर मिलती है तो इतनी टीकाएं हैं गीता पर कि संभव है संस्कृत के किसी भी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं ना हुई हों ऐसी भी टीकाएं हैं जो कभी प्रेस में छपी नहीं हाँ, गुप्त रहती हैं गुप्त वो गुरु परंपरा से मिलते हैं तो ऐसे तो पीछे पड़ जाए ना गीता के पीछे पड़ जाए हे भगवान तो दोनों का कहना ये है कि अपने प्रियतम तो बैठे हैं अपने पलंग पर और हम गए बोले बैठो जरा आप बैठो क्या करते हैं तो हम किसी देवी देवता की पूजा करके आते हैं यज्ञ जाग करके आते हैं होम करके आते हैं आप बैठे रहिए तो बाबा किस लिए कर रहे हो कहा आपकी प्राप्ति के लिए अरे मैं तो तुमको प्राप्त हूँ मैं तो तुमको प्राप्त हूँ तुम मेरी प्राप्ति के लिए तीर्थ करने जाते हो व्रत करने जाते हो यज्ञशाला में जाते हो पड़ोसी को मनाने जाते हो हैं तो सर्वधर्मान परित्यज उन्होंने कहा कि ईश्वर की शरणागति को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेना ही अपराध है धर्म का छोड़ना अपराध नहीं है और धर्म की शरण लेना अपराध है अब देखो एक माधुर्य की बात करो ये <clears throat> वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया है वहां शरण शब्द का ही प्रयोग है राम जी चाहते कि मैं त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का राजकुमार और सुग्रीव बानर और बानरों के राजा तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना चाहिए और मेरी शरण में होना चाहिए लेकिन महाराज वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल उल्टा है राम भगवान स्वयं हो हनुमान जी के कंधे पर चढ़ के सुग्रीव के पास गए तो वहां ऐसे शब्द का प्रयोग है सुग्रीवम शरण गता भगवान रामचंद्र सुग्रीव के शरणागत हुए शरण में गए ऐसा लगता है कि उस जमाने में शरण शब्द इतना गंभीर नहीं था सुग्रीवम शरण गता फिर ये हुआ कि आओ हमारी तुम्हारी मित्रता हो तो केवल रामचंद्र की शरणागति से काम नहीं चला सुग्रीव ने कहा हम विश्वास कैसे करें तो रामचंद्र ने परीक्षा दी बाण मार के सात साल जो है परीक्षा दी हो सुग्रीव से मित्रता करने के लिए है तो देखो ये क्या लगता है अपनी ईश्वरता को सुग्रीव की मित्रता पर निछावर करके कहीं दूर फेंक दिया अपनी सारी ईश्वरता का परित्याग कर दिया ईश्वर का यही सामर्थ्य है ईश्वर की ईश्वरता ये है कि वो अपनी ईश्वरता को छोड़ गए तो रामचंद्र भगवान पहले गए और सुग्रीव से बोले कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं जब सुग्रीव को विश्वास इन्होंने कहा मैं बाली को मारूंगा हाँ, बोले विश्वास नहीं हुआ तो परीक्षा दी हाँ, वो जो बड़ा भारी अस्थि संचय था उसको पांव से मार के फेंक दिया सात काम काम फिर भी सुग्रीव को विश्वास रखने के लिए जरूरत पड़ी किसकी अग्नि साक्ष्य अग्नि प्रज्वलित करके जैसे लड़की लड़के का पाणी ग्रहण होता है ना ऐसे पाणी निवेद्य बाणे ब्या निवेद्य पाणी ना पाणी ये शब्द है वाल्मीकि रामायण का हाँ, निवेद्य बड़े जोर से दोनों ने हाथ पकड़ा हाँ, और टूट जाए हाथ हाँ, माने सुग्रीव ने स्वयं बल का अंदाज लगाया कि हमारा हाथ जोर से दबा देंगे राम जी तो कहीं टूट न जाए पाणी पानी में निवेद्य पाणी दिया और निवेद्य पानी ना पाणी एक हाथ मिलाया एक हाथ से एक हाथ और अग्नि को प्रज्वलित करके प्रतिज्ञा की देखो अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वाम प्रजा सर्वस्वरूप एक जीव का उद्धार करने के लिए एक जीव का कल्याण करने के लिए उसके पास जाते हैं परीक्षा देते हैं अग्नि को साक्षी बनाते हैं हाथ से हाथ मिलाते हैं है? और एक एक और बात ध्यान में लो सबसे बड़ी बात वही है बाली के मारने में न तो धर्म था न तो न्याय था छिप के मारना ये कोई धर्म युद्ध थोड़े हुआ और महाराज जिससे राम जी की कोई दुश्मनी नहीं है उसको मारना ये कोई न्याय था बोले भाई देखो अब हम आए हैं सुग्रीव की शरण भक्त का पक्षपात करना ये ईश्वर का धर्म है वो हाँ, वो भला हो कि बुरा हो यदि भगवान भक्त का और भक्ति का पक्षपात नहीं करेंगे जज साहब बन के बैठ जाएंगे मजिस्ट्रेट बन के बैठ जाएंगे बोले हम तो न्याय करेंगे न्याय बोले न्याय तो हम दुनिया में चाहे किसी से भी ले आवेंगे और थानेदार भी न्याय कर सकता है गांव का चौधरी भी न्याय कर सकता है और जज भी न्याय कर सकता है न्याय तो सबसे मिलेगा बोले नहीं देखो ये है शरणागति धर्म भगवान पक्षपात करते हैं यदि भगवान भक्ति का पक्ष लेकर भक्त का पक्ष लेकर उसके अधर्म में भी साथ न रहे उसके अन्याय में भी साथ न रहे तो कोई भगवान की शरण में क्यों जाए न्याय कराने के लिए भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती है उसमें तो आत्मबल होता है अद्भुत शरणागति की प्रक्रिया हम कहते हैं यदि सुग्रीव का पक्षपात करके बाली को न मारते भगवान तो मैत्री और शरणागति जो भगवान के साथ है वो निष्फल हो जाती है भगवान अब अब आपको सुनाते इतना ही नहीं बाली को मारने के बाद राजा होने के बाद सुग्रीव तो अपना धर्म भूल गए विषय भोग में लगे और ऐसा काम उन्होंने किया महाराज जो नहीं करना चाहिए था धर्म के विपरीत था परंतु भगवान ने कहा एक बार जो हमारा मित्र बन गया हमारी शरण में आ गया हमसे दोस्ती हो गई अब वो चाहे कुछ भी करे हम तो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं देखो ये ये सुग्रीव ने बहुत गलत काम किया विभीषण ने भी बहुत गलत काम किया पर गलत काम करने पर भी सुग्रीव विभीषण को भगवान ने छोड़ा नहीं गोस्वामी जी ने इशारा किया हो जे यघ बधऊ व्याध जिमी बाली सोई सुकंठ पुन की कुचाली सोई करतूती विभीषण पेरी सपने जे ही न राम ही हेरी रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सौवार ही की रहती न प्रभु चित्त चूक किए तो देखो भगवान में क्या स्वयं की करुणा नहीं है क्या स्वयं की दया नहीं है क्या स्वयं का बात्सल्य नहीं है क्या स्वयं का स्नेह नहीं है हाँ, कि उनकी करुणा उनका बात्सल्य उनका स्नेह प्राप्त करने के लिए हाँ, धर्म की शरण लेनी पड़े विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा पलंग पर बैठा अपना प्यारा और पड़ोसी को बुलाने चले गए नहीं नहीं उस समय तो यज्ञशाला में जाना ही उस समय तो यज्ञशाला में जाना ही अपराध है विविधिशा वाक्य जो है समेतम वेदान वचने न ब्राह्मणा विविधि शक्ति जगे न दाने न तपता अना सके न इस विविदिशा वाक्य का अर्थ ही है कि धर्मानुष्ठान भगवान की प्राप्ति के लिए होता है और जब भगवान मिल गए प्रयोजन की पूर्ति हो गई इसी से वेदांति लोग मानते हैं कि जब ब्रह्मात्मय के बोध हो जाता है अविद्या की अविद्या की निवृत्ति जब हो जाती है ब्रह्मात्मय के बोध हो जाता है तो अंतकरण शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं रहती है प्रयोजन पूर्ति से अंतकरण की शुद्धि भी बाधित हो जाती है बाद में रहे कि न रहे इसलिए माने तत्व ज्ञान हो जाने के बाद अंतकरण शुद्ध रहे कि न रहे क्यों बोले शुद्धि का प्रयोजन था परमात्मा का साक्षात्कार सो हो गया तो अधिगमे उत्तर पूर्वाग्रह हो अश्लेष विनाश हो तद व्यपदेशात उत्तराग का अश्लेष हो जाता है अंतकरण शुद्धि किसके लिए बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्मानुष्ठान किसके लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सो महाराज प्राप्त हो गया प्राप्त नहीं हो गया सखा बन गया साला बन गया सारथी बन गया आज्ञाकारी बन गया और का फिर का फिर अर्जुन कह नहीं हमारा धर्म हमारा धर्म हमारा धर्म भगवान के सामने क्या तो महाभारत में बड़ा स्पष्ट है तेज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्वा ये न त्यजसी तत्यज त्यज धर्मम संकल्पा अधर्मम चाप्यलिप्सया उभे सत्यानृते बुद्धिया बुद्धिम परम निश्चयात अब देखो हमारे पुरोहित जी आज कुछ कहना चाहते हैं

संस्कृत भाषा में श्लोक का अर्थ कैसे किया जाता है उसकी एक शैली एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं चालू है हमको तो कुछ थोड़ा ऐसा ही लगता है आ, हाँ, ये तो नहीं चालू मिलता ये तो नहीं एक चालू नहीं है हाँ, अच्छा जी तो हरे हरे 你打不好，就不行。 परित्यज्य को भी एक श्रेय ही मानते हैं अब तो भगवान कहते हैं सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए सब पापों से मुक्त कर दूंगा शोक मत करो तो शोक मत करो ये तो वर्तमान में ही अनुभव करने की वस्तु है वो ये जीवन मुक्ति है मां सोचा है मोह रहेगा तो शोक रहेगा शोक है तो मोह है शोक और मोह दोनों एक साथ रखें तत्र को मोह का शोक एकत्व तो अनुपश्यता जब एकत्व तो का साक्षात्कार हो गया तब एक ही है एकत्व तो अनुपश्यता अरे आत्मा अनात्मा जीवन मृत्यु प्रत्याश करो कुछ नहीं न तो तद्वितीय मस्ते परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं रोज रोज तो बोलते हैं न पापम न पुण्यम न दुखम सुखम जाना माने मोह जाना मोह जाना माने शोक जाना तत्र को मोह का शोक एकत्व मनोपश्यता तो यहां तो कह दिया मां सोचा और बाद में बताया कि कच्चित अज्ञान सम्मोह पर नष्टस्ते धनंजय क्या तुम्हारा अज्ञान सम्मोह नष्ट हो गया मान शोक और मोह दोनों की निवृत्ति अभिष्ट है और इसी जीवन में स्वर्ग में जाके शोक में मोह मिटेंगे सो नहीं मरने के बाद दूसरे जन्म में मिटेंगे सो नहीं इसी जन्म में शोक और मोह मिटना चाहिए तो ये शोक और मोह जो है ये समझदारी के लक्षण नहीं है वो नासमझी के लक्षण इसीलिए कच्चित अज्ञान संभव ये कोई न कोई नासमझी लगी हुई है तुम्हारे साथ इसलिए होता है संसार में मोह और इसी से होता है संसार में शोक शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान शबानी च दिवसे दिवसे मूढ़ आविशंति न पंडिता ये महाभारत की गायत्री है जो संसार में बेवकूफ लोग हैं मूड हैं अटके हुए हैं हटके हुए हैं वो दिन भर में हजार बार शोकग्रस्त होते हैं और हजार बार भय भयग्रस्त होते हैं शोक करना और डरना ये दोनों अज्ञान का लिंग है तो पहली बात हमारे जीवन में जो आने की है वो लें कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए प्रलय स्यापिकार ही चल विचार नहीं ही विक्षोभम भी नैतिजस्यांत सब आत्मे भी कथ्यते महात्मा उसको कहते हैं कि प्रलय की घनघोर गर्जना हो रही हो चराचर सृष्टि विचलित हो रही हो परंतु अंतकरण में क्षोभ न हो उसका नाम है महात्मा तो ईश्वर की कृपा से जो लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं उनकी बात दूसरी है जो लोग वैकुंठवासी होना चाहते हैं उनकी बात दूसरी जो लोग समाधि में मग्न होकर संप्रज्ञात समाधि को पार करके असंप्रज्ञात समाधि में निर्विकल्प निर्वीज समाधि में स्थित होना चाहते हैं उन्हें उधर जाए इस मनुष्य जीवन में होना क्या चाहिए कि शोक और मोह कभी अपने जीवन में प्रवेश न करें मां सोचा शोक मत कर अब एक डबल बात सुना देता हूं डबल हो डबल मान लो कभी शोक आ ही गया आ जाए साला क्या है, उससे भी नहीं डरना अरे हाय हाय कहीं हम डरने न लग जाए हमारे मन में भय ना आ जाए ये आने वाले भय के लिए शोक के लिए भी भयभीत होना ये भी भोग है हाँ, हाँ, मैं तो गिरधर हाथ नहीं होनी होए सो हो रहे मरने वाले मरे रोने वाले रोए निर्द्वंद महाशुचा अच्छा अब इसके लिए बात क्या है तो बोले अहम आ सर्व पापी हो मोक्ष मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा माने स्वयं ये देहाभिमानी जीव अपने को कर्म का कर्ता तो समझता रहे कर्म फल का भोगता भी समझता रहे तो पाप करना और पाप भोगना ये दोनों कभी छूट नहीं सकते यदि कहो कि नित्य कर्म करके या उपासना करके या योगाभ्यास करके हम पापों से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे तो अपने बल पर कोई पाप से मुक्त नहीं हो कर्ता जो है जब तक कर्तृत्व है तब तक पाप पुण्य दोनों करेगा ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं कि जिसका शारीरिक जीवन तो रहा हो और पाप न हुआ हो और शारीरिक जीवन तो रहा हो परंतु भोग न ये तो उपनिषद बोलते है नवा अरे सशरीर से सतः प्रिया प्रियो प्रिया प्रियो हो अपहति हस्ते छांदोग्य श्रुति कहती है कि जब तक जीवन रहेगा शरीर रहेगा शरीर के साथ प्रिय और अप्रिय लगे रहेंगे अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिय अस्पृष्ट जब तुम देहाभिमान से मुक्त हो जाओगे और ये समझोगे ये अनुभव करोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ तब संसार की प्रियता अप्रियता तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी तो यहाँ कहते हैं जीवन में ही शोक मोह की निवृत्ति परंतु सशरीर व्यक्ति जो है वो प्रिय अप्रिय से मुक्त नहीं हो सकता तो इसका अर्थ ये है कि हमने जो अपने को देह से जोड़ लिया है ये ये ज्ञान है और सबसे बड़ा पाप ये है दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये है कि हम हैं तो अजन्मा और अमर और समझते हैं आपको अपने आप को जन्म वाला और मरने वाला जन्मवान और मृत्युवान अजन्मा होकर अमृत होकर अपने को जन्म वाला शरीर मानना मरने वाला शरीर मानना ये बिल्कुल पाप है चेतन होके अपने को जड़ समझना ये पाप है आनंद स्वरूप होकर अपने को दुख रूप समझना ये पाप अद्वय होकर अपने को सद्वय समझना ये पाप है अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्य थे किंतु न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेणा वाल्मीकि रामायण में कहा वो आत्मापहारी है अपने अपना सत्यानाश उसने कर दिया वो चोर है मेरे तो कौन चोर है कौन आत्मघाती है बोले अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिबद्ध है है तो चेतन समझता है अपने को जड़ है तो आनंद समझता है अपने को दुख है तो अजर अमर समझता है अपने को जन्मने मरने वाला अरे मेरे बाप क्या से क्या हो गया ये उल्टी समझ जो है ये सबसे बड़ा पाप जीवन में सबसे बड़ा पाप है उल्टी समझ तो देखो भगवान पाप से छुड़ाते तो किस पाप से छुड़ाते हैं जहां पाप है वहां दुख है बना बल्कि अन्यथा अनुपत्ति से ये निश्चय होता है कि आपके जीवन में दुख होता है कहा होता है तो यदि कोई न कोई पाप न किया होता तो ये दुख नहीं होता दुख होता है जिससे ये सिद्ध होता है कि आपने पाप किया है इसको अन्यथा अनुपत्ति बोलते हैं और अन्यथा अनुपत्ति यदि पाप न होता तो दुख होता ही नहीं अच्छा तो दुख के मूल में है पाप कर्म तो भगवान दुख को भी मिटाते हैं और पाप कर्म को भी मिटाते हैं अब ये पाप कर्म क्यों होते हैं ये राग द्वेष मोह मूलक जो वासनाएं हैं अपने मन में उनके कारण पाप होता है तो भगवान क्या करते हैं कि उन राग द्वेष मोह मूलक वासनाओं को ही मिटा देते हैं ये वासनाएं कहां से आई भाई ये अहंकार के आश्रित रहते हैं तो भगवान उस अहंकार को ही मिटा देते हैं मावेकम शरणम व्रजन ये अहंकार क्यों हुआ कि मैं परिच्छिन्न हूं का अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने से ये अहंकार भ्रम है और अपने स्वरूप का यथार्थ रूप जो है उसका अज्ञान है तो भगवान भ्रम को भी मिटाते हैं और अज्ञान को भी मिटाते हैं तो समूल पाप का विध्वंस भगवान करते हैं अहम त्वा सर्व पापे हो मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्य अविद्या तत्कार अहम अहंत्रे न अभिव्यक्त प्रत्यगात्मा ब्रह्म जब मैं तुम्हारे अहम रूप से प्रकट होता हूँ तब मैं सारे पापों का नाश कर देता हूँ लो प्रतिज्ञा करो वादा करो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वय परमात्मा जाने बिना सारे पापों का नाश नहीं हो सके और नहीं तो अज्ञान पाप लगा रहेगा अज्ञान के कारण भ्रम पाप होगा अहम पाप होगा राग द्वेष पाप होगा वासना पाप होगा कर्म पाप होगा दुख पाप होगा पापी की पहचान आपको मालूम है पापी एक तो स्वयं पाप कर रहा है पाप क्या होता है अपनी और दूसरे की उन्नति में बाधा डालने वाला जितना काम है उसका नाम पाप पाप की परिभाषा है मान बाप अपने स्वरूप भूत परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधा डालने वाली चीज है उसका नाम पाप है और दूसरे के परमात्मा रूप स्वरूप भूत परमात्मा की प्राप्ति में बाधा डालने वाले काम का नाम जिससे दूसरा परमेश्वर से विमुख हो जाए वो पाप है जिससे मैं परमेश्वर से विमुख हो जाऊं वो पाप है क्योंकि उसमें आत्मा और पर मैं और तुम का कोई भेद नहीं है वो और बहुत दिनों के बाद वेदांत की बात आपको सुनाता हूं हाँ। तो पापी की पहचान क्या है दुखी रहना पापी की पहचान क्योंकि उसने पहले पाप किया है तो की है और पाप करने की वासना भी है वो सोचता है और पाप करेंगे ये एक पाप से तो दुख आया है अब दूसरा पाप करेंगे तो ये दुख दूर होगा एक झूठ बोलने से तो पकड़े गए हैं अब दूसरा झूठ बोलेंगे तो बचेंगे बोले अब एक एक बार चोरी की तो जेल में आए अब जेल में एक छेद करके यहाँ से भाग जाएंगे तो जेल से बच जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी की बात पाप से पाप की मुक्ति नहीं होते पाप से पापी नहीं छूटता है वो तो दूसरी एक तो दुखी रहना पापी की पहचान है एक वो दुख से छूटने के लिए पाप का ही सहारा लेता है ये दूसरी पहचान है हाँ। और तीसरे पाप कर्म करता है पाप कर्म करता है पाप की बासना है और दुखी है ये तीनों बात पापी की पहचान है छुड़ाता कौन है बोले परमेश्वर जहां रहा आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति तो शंकराचार्य कहना पसंद नहीं करते हैं वो कहते हैं आत्मा में अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति नहीं होती वो तो नित्य अभिव्यक्त स्वरूप ही है ये नहीं कि मोक्ष दशा में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वो कहते हैं केवल अज्ञान मात्र की निवृत्ति पाप माने सब पापों का जो पाप है अज्ञान या सर्व पापे दिया सबंश मूल पुरुष सहित जो अपने पंथ का मूल पुरुष है जिसमें से जन्म मरण निकला है जिसमें से वासना निकली है जिसमें से कर्म भोग निकला है जिसमें से अहंकार निकला है जिसमें से भ्रांति निकली है हाँ, इन सब अंट संत चीजों का मूल पुरुष कौन है बोले अज्ञान है तो बोले बस न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी आओ हम अज्ञान को ही मिटा देंगे तो कैसे मिटेगा कि अहम जो वस्तु है अद्वैतियों की खास चीज है हाँ, ये ये ये तो उनकी चुनौती है सारी दुनिया के लिए सारे वैज्ञानिकों के लिए सारे दार्शनिकों के लिए ये चुनौती है कि यदि परमात्मा अपने से अलग होकर दर्शन देता है तो चला जाएगा उसको तुम पूरी तरह से जान नहीं सकोगे वो वैकुंठ में होगा वो निराकार होगा वो निर्गुण होगा केवल उसकी कल्पना कर सकोगे साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का केवल स्वरूप रूप से ही होना संभव है इदम रूप से भी नहीं स्वम रूप से भी नहीं तद रूप से भी नहीं तो परिच्छिन्न अहंकार के रूप से भी नहीं परमात्मा का साक्षात्कार केवल शुद्ध आत्मा से अभिन्न रूप में ही हो सकता है और वो वो भी साक्षात्कार नहीं भेद भ्रम की निवृत्ति से उपलक्ष्य ये शंकराचार्य का शुद्ध हाँ। बोले फिर इसके लिए करना क्या बोले माम एकम शरण प्रजा माम ब्रज माम जाने मुझे जाने की पीठ करके होता है उपनिषद में वर्णन है उपनिषद में क्या वर्णन है यथा न प्रबद्धा शकुनी दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्धवा स्वबंधनम एवोपाश्रय थे प्राण बंधनम भी सौम्य बना चांदोग्य उपनिषद में आया एक चिड़िया है वो पक्षी है रस्सी से वो किसी लकड़ी में बंधा हुआ है किसी डंडे में बंधा हुआ है अब बेचारा उस लकड़ी को छोड़कर इधर उधर भटकना चाहता है अपने आश्रय को छोड़ दिया और चाहता है और कहीं आश्रय मिल जाए तो कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता उसको अपने आश्रय में ही आकर सोना पड़ता है बैठना पड़ता है नहीं तो पांव बधे हैं तड़फड़ाएगा इधर उधर फड़फड़ाएगा कहीं उसको जाने का रास्ता नहीं है हमारे भक्त लोगों ने ऐसे दृष्टांत दिया है एक जहाज कहीं समुद्र में जा रहा था उसके मस्तूल पर एक चिड़िया बैठ गई अब जहाज चलते चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से किनारा बहुत दूर है अब उसके मन में आया कि यहां से उड़ाए तो एक बार उड़ा पूरब गया जब किनारा नहीं मिला तो फिर लौट के आया वहीं बैठा एक बार उड़ा पश्चिम गया किनारा नहीं मिला तो फिर आके वहीं जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे वैसे ये जो हमारा जीवन है ये हमारे अंतरतम अंतरंग सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परमात्मा के साथ बंधा हुआ है उसको छोड़कर यदि ये कहीं से सुख लेना चाहेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़कर यदि ये कहीं से ज्ञान लेना चाहेगा नहीं मिलेगा यदि उसको छोड़कर ये अपने को अजर अमर अमृत अभय बनाना चाहेगा नहीं हो सकता आश्रय परित्याग हाँ, ये बड़ा भारी दोष मानते हैं अपने आश्रय को नहीं छोड़ो तो देखो हमारी आंख है कान है आंख है ये जाते हैं ना देखने को आंख दूसरे को देखने जाती है कान दूसरे को सुनने जाता है नाक दूसरे को सुनती है जीभ दूसरे से बोलती है स्वाद लेती है ये सब तड़फड़ाहट है वो ये हाँ, मन कहीं दूसरी जगह जाता है ये भी चिड़िया का फड़फड़ाना है अंत में उसको विश्राम कहा मिलता है कि जहां बधा हुआ है जिसकी सत्ता से इसको सत्ता मिलती है जिसके ज्ञान से इसको ज्ञान मिलता है हाँ, जिसके आनंद से इसको आनंद मिलता है जब वही लौट के आवेगा जैसे सोते समय आपको विश्राम कहाँ मिलता है विश्राम बच्चे में नहीं मिलता हूं भले गोद में लेके सो जब उसको भूल के अपने आप में सोओगे तब विश्राम मिलेगा विश्राम पति पत्नी में नहीं मिलता अंतिम गति जो है पत्नी पलंग पर है कि चली गई इसका पता नहीं लगता है पति पलंग पर है कि चला गया इसका पता नहीं लगता है बच्चा पलंग पर से गिर गया इसका पता नहीं चलता है कब नहीं चलता जब सो जाता है हाँ, हम अपने बाबा के साथ सोते थे पितामा के हाँ, तख्ते पर से गिर जाते थे हाँ, तो उनको पता नहीं चलता बाद में ढूंढते हुए